अभिशाप विक्रांत को डर था कि कहीं मंजू और उसकी टीम ये केस उससे पहले ना सॉल्व कर ले इसी डर से वो काफी तेजी से गाड़ी चलाता हुआ राघव के दिए हुए एड्रेस की तरफ भागा जा रहा था उसने टीम बी के ऑफिस के लोगों की बातें सुनने के लिए जो डिवाइस लगाई थी अभी वो अगले सैतालीस घंटों तक और काम करने वाला था अभी भी उसके पास टीम बी के लोगों का प्लान और उनकी बातें सुनने का पर्याप्त समय था उस डिवाइस की मदद से जो उसने सुना था उसे ये पता लगा था कि मंजू को अब एहसास हो चुका था कि वो गलत दिशा में जांच कर रही थी अब वो केस की जांच दूसरे सिरे से कर रही थी यहां तक कि उसकी टीम में से किसी ने पियानो का भी जिक्र किया था इस वजह से विक्रांत और डरा हुआ था कहीं मंजू और उसकी टीम उससे पहले मुजरिम तक ना पहुंच जाए विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि इस लड़की के मिलने के बाद वो जरूर इस केस के मुजरिम को पकड़ लेगा इसलिए वो जल्द से जल्द आशमा को ढूंढ लेना चाहता था राघव ने उसे जो एड्रेस दिया था वो था बीस बटा अट्ठारह road number 37 near Sai Baba temple Shankar Nagar Borivali Mumbai चार शून्य शून्य नौ एक ये एड्रेस ज्यादा खास नहीं था लेकिन विक्रांत के लिए और उसके केस के लिए काफी खास एड्रेस था दरअसल ये एड्रेस उस एड्रेस के काफी करीब था जहां पर मीणा बंसल का हाथ काटा गया था वो फिटनेस जिम इस एड्रेस के काफी करीब ही था उस वक्त जब मुजरिम का चेहरा किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया था तब ये अंदाजा भी लगाया गया था कि अगर मुजरिम इसी इलाके के आसपास का हो तो हो सकता है कि वो मीना का हाथ काटने के बाद जल्दी से अपने घर की तरफ चला गया हो जिस वजह से वो सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आया जिस जगह पर मीना की बीएमडब्ल्यू कार मिली थी वहां से ये एड्रेस बामुश्किल दो तीन मिनट की दूरी पर रहा होगा बोरीवली का ये इलाका शहर की स्लम बस्ती के रूप में भी जाना जाता है यहां पर अधिकतर छोटे मोटे काम करने वाले और दिहाड़ी मजदूर ही रहते हैं इस इलाके के ज्यादातर लोग बाहर से आ आकर यहां बसे हुए थे यहां पर काफी चोर और गलत काम धंधे वाले लोग भी रहते थे जो एड्रेस राघव ने विक्रांत को दिया हुआ था वो काफी संकरी गली से होता हुआ जाता था यहाँ तक कि उन गलियों में गाड़ी भी नहीं जा सकती थी मजबूरन विक्रांत को अपनी कार इस इलाके से बाहर रोड साइड एक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ी उसके बाद वो पैदल चलता हुआ आशमा का घर ढूंढने लगा काफी संकरी गलियों को पार करने के बाद और काफी लोगों से एड्रेस पूछने के बाद आखिर में विक्रांत आशमा के घर पहुंच ही गया ये घर घने मोहल्ले के बीचों बीच स्थित था अगर कोई आदमी पहली बार यहाँ आए तो पक्का है कि वो बिना किसी की मदद के इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकता है जहाँ पर आशिमा का घर था उसके अगल बगल काफी गंदी नालियां बह रही थी उसके घर का मेन गेट लोहे का बना हुआ था और इसी पर काफी पुराना नीले रंग का पेंट भी हुआ था पेंट के बावजूद दरवाजे में काफी जंग लगी हुई थी विक्रांत ने दरवाजे पर जोर से नॉक करना शुरू किया अभी भी उसे शक था कि कहीं वो गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गया है विक्रांत काफी नर्वस था उसके दिमाग में अभी यही सब चल रहा था कि अगर अब भी आशमा यहां नहीं मिली तो फिर आगे वो क्या करेगा सोचते सोचते उसने फिर से दरवाजे पर जोर की दस्तक दी अंदर से किसी वृद्ध महिला की आवाज आई हाँ आ गई विक्रांत ने जंग लगे लोहे के दरवाजे में बने एक सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा कि एक बासठ चौसठ साल की वृद्ध महिला धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ चली आ रही है विक्रांत से सब्र ना हुआ उसने बाहर से चिल्लाकर पूछ लिया आप मालती देवी हैं हाँ हाँ खोल रही हूँ एक मिनट अब जाकर विक्रांत ने राहत की सांस ली चलो कम से कम सही एड्रेस पर तो पहुंचे इसका मतलब उन्होंने हॉस्पिटल में अपना सही एड्रेस दिया हुआ था उस वृद्ध औरत ने दरवाजा खोलते ही कहा हाँ जी बताइए क्या हुआ माताजी मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ आपसे कुछ बात करनी थी अच्छा अच्छा अंदर आ जाओ बेटा आओ आराम से बैठ जाओ उस औरत ने विक्रांत को अंदर बुलाया और बैठने के लिए प्लास्टिक की एक टूटी हुई कुर्सी दी विक्रांत आराम से बैठ गया पुलिस का नाम सुनने के बाद भी वो औरत जरा सा भी नहीं घबराई अक्सर जब कोई भी कुछ गलत काम में इन्वॉल्व होता है तो पुलिस का नाम सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं लेकिन इस वृद्ध औरत का रिएक्शन देख विक्रांत को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि इसने कुछ गलत किया होगा ये जानकर विक्रांत को थोड़ी निराशा भी हुई उसे लगा कि कहीं यहां आना व्यर्थ ना हो जाए कहीं फिर से उसका टाइम वेस्ट ना हो जाए उस औरत के सिर में बाल बहुत कम थे और चेहरे पर काफी झुरियां पड़ी हुई थी विक्रांत पहले से ही उसके मेडिकल रिकॉर्ड को पढ़कर आया था उसे पता था कि वो पिछले साल मई में सिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही थी उसे पेट का कैंसर था जिसके लिए उसकी कीमोथेरेपी की गई थी इसी के चलते उसके सिर के लगभग सारे बाल झड़ चुके थे हाँ बेटा बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे विक्रांत ने सीधे ही उससे पूछा माता जी आपकी बेटी का नाम आशमा शाह है हाँ आशमा नाम है मेरी बेटी का लेकिन अब वो अपना नाम बदल चुकी है अब वो अपना नाम फातिमा शाह लिखती है उस औरत ने बड़ी ईमानदारी से ये बात विक्रांत को बता दी मेरा आदमी बहुत जल्दी मर गया था उसके बाद से मैं और मेरी बेटी ही यहाँ रहते हैं अच्छा तो आशमा आई मीन फातिमा का बाप मर चुका है ये सुनकर विक्रांत को थोड़ा दुख हुआ फातिमा ही मेरा ध्यान रखती है इधर उधर जो भी काम मिल जाए करके पैसे कमाती है और मेरी दवाई का खर्च और घर का खर्च सब कुछ वही करती है मेरी सेवा में वो अपनी खुशी भी भूल चुकी है बेचारी ने मेरे चलते अपनी शादी भी नहीं की बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या ओ, क्या विक्रांत थोड़ा असहज हो गया ये माताजी तो मेरा ही रिश्ता तय करने लगी किस तरह के काम करती है आपकी बेटी मेरा मतलब पैसे कहाँ से कमाती है कुछ भी काम मिल जाए कभी नर्स तो कभी किसी शॉप पर तो कभी किसी नाटक में और जादू के शो में भी मॉडल बनकर चली जाती है जादू के शो में अच्छा तो हो सकता है कि जो प्लास्टिक मीना की बी के फ्रंट शीशे पर लगा हुआ था वो उसे वहीं से मिला रहा होगा विक्रांत के शक की सुई घूमती जा रही थी अब विक्रांत ने बड़ी सावधानी से सवाल किया अच्छा आपकी बेटी मेरा मतलब फातिमा को पियानो बजाना भी आता है क्या विक्रांत का यह सवाल सुन उस बूढ़ी औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया वो लगभग चिल्लाते हुए बोली पियानो का तो नाम मत लो अगर मेरी बेटी के सामने कोई भी ये नाम लेता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है हमारे घर के लिए अभिशाप है ये शब्द पियानो की बात सुनकर आशमा की मां का चेहरा गुस्से से क्यों लाल हो गया ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को फ्लैशबैक पियानो का नाम सुनते ही उस बूढ़ी औरत का रिएक्शन देख विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ उसे एहसास हुआ कि जरूर उस साल कुछ ना कुछ उस लड़की के साथ हुआ था तभी आज उसकी मां पियानो का नाम सुनते ही गुस्से में आ गई विक्रांत ने उस औरत को समझाते हुए आगे की कहानी जाननी चाहिए लेकिन शायद वो कुछ भी बताने के मूड में नहीं थी तब विक्रांत ने उसे यह कहकर डराया कि अगर वो सारी बात अभी नहीं बताती है तो वो फातिमा से मिलकर इस बारे में बात करेगा ये बात सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने के बाद वो विक्रांत को सारी स्टोरी बताने के लिए राजी हो गई सारी कहानी सुनने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि जैसा वो उस लड़की के बारे में अब तक सोच रहा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था ये केस तो बिल्कुल ही अलग था अभी तक उसे यही लग रहा था कि उस रात कंपटीशन से वो इसलिए अचानक गायब हो गई थी क्योंकि उसे किसी ने पैसे देकर खरीद लिया था या फिर किसी ने उसे किडनैप करवा लिया था लेकिन यहां तो पूरी कहानी ही दूसरी निकली आशिमा मतलब फातिमा की माँ की आंखों में आंसू भराए थे उसने भर्राई हुई आवाज के साथ बोलना शुरू हाँ मेरी बेटी पियानो बजाती थी उसके हाथों में जादू था जादू हर कोई उसके पियानो की आवाज़ सुनकर उसका मुरीद हो जाता था लेकिन शायद अल्लाह को यह मंजूर नहीं था इतना कहते हुए उसने अपने दुपट्टे से आंखों में आ रहे आंसू को पहुंचना शुरू कर दिया विक्रांत चुपचाप उसे देख रहा था फिर उसने बोलना शुरू किया हमारी सिर्फ एक बेटी थी लेकिन हमने उसे बेटे की तरह पाला था हमें पूरी उम्मीद थी कि भले ही ये हमारी इकलौती बेटी है लेकिन ये बेटे से भी ज्यादा सुख देगी हमें उसके पापा ने उसे पढ़ाने से लेकर पियानो सिखाने तक कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी बच्ची बहुत होशियार थी स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह पढ़ने में सबसे आगे थी स्कूल में थी तभी उसे पियानो बजाने का मन हुआ स्कूल के दिनों से ही वो पियानो इतना अच्छा बजाने लग गई थी कि खुद उसके सर ने उसके अब्बू से कहा था कि इसको पियानो सिखाओ बिटिया बहुत होशियार है बहुत अच्छा पियानो बजाती है बहुत आगे जाएगी इतना कहते कहते उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए वो फपक कर रोने लगी इस बार उन्हें इस तरह से रोता देख विक्रांत का दिल भी भर आया उसने उन्हें चुप कराते हुए आगे की बात जाननी चाहिए फिर उसके अब्बू ने उसे पियानो सिखाने के लिए शहर में आकर बस गए हमने अपना गांव का घर भी बेच दिया था जो भी पैसा मिला सब उसे सिखाने पढ़ाने में लगा दिया सोचा था कि एक बार बिटिया कुछ बड़ा कर लेगी तो सब सफल हो जाएगा हमारी बिटिया भी बहुत समझदार थी कहती थी कि अम्मी एक बार मैं पियानो सीख जाऊं फिर मैं बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी अपनी म्यूजिक कंपनी खोल लूंगी और फिर मुंबई में बड़ा सा घर होगा हमारा फिर फिर क्या हुआ विक्रांत ने कहा फिर वो मुंबई में ग्रैंड पियानो कंपटीशन हुआ बहुत चर्चा थी उस शो की तब कहते थे कि एक बार अगर कोई उस कंपटीशन को जीत ले फिर उसकी जिंदगी बदल जाती है इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग उसमें भाग लेने आते थे मुंबई ग्रैंड पियानो कंपटीशन उसके दसवें एडिशन में थी आपकी बेटी वो जो मुंबई मॉडल स्कूल में हुआ था उसी में विक्रांत सब कुछ कंफर्म कर लेना चाहता था हाँ वही मुंबई मॉडल स्कूल में हुआ था बहुत दूर दूर से लोग उसमें भाग लेने आए थे आशमा के सर ने हमें बताया था उस कंपटीशन के बारे में तब उसके पापा ने जाकर खुद उसका नाम लिखवाया था मेरी बेटी उस कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत मेहनत करती थी दिन रात पियानो की प्रैक्टिस करती रहती थी खाना पीना सब कुछ भूल गई थी कंपटीशन के पहले राउंड में ही उसने सबको अचंभित कर दिया था यहां तक के शो के जज भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे सब कहते थे कि कुछ भी हो जाए शो तो यही लड़की जीतेगी फिर से आशमा की माँ फपक कर रोने लगी विक्रांत काफी उदास हो गया था उसने तुरंत ही सामने पड़ी पानी की बाल्टी से एक गिलास पानी लाकर उन्हें पिलाने की कोशिश की पानी का एक घूंट पीने के बाद उन्होंने आगे बताना शुरू किया फिर शो का तीसरा राउंड पार करके मेरी बेटी तीसरी पोजीशन पर आ गई थी पूरे शहर में उसकी चर्चा थी हम बहुत खुश थे उसके अब्बू मैं और आशिमा खुद बहुत खुश थे हमें पूरा विश्वास था कि ये कंपटीशन तो हमारी बेटी ही जीतेगी वो दिन रात मेहनत करती थी शो के फाइनल वाले दिन के लिए शो के ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक ही पियानो रखा हुआ था उसी पर सारे फाइनलिस्ट को पियानो बजाना था शो में किसी के साथ कुछ पक्षपात ना हो इसीलिए ऐसा किया गया था फाइनल वाली रात के एक दिन पहले सभी को उसी पियानो पर प्रैक्टिस करने का अलग अलग समय भी दिया गया था हम बहुत दूर से वहां शो के लिए जाते थे इसीलिए उसके अब्बू ने शो के ऑर्गेनाइजर से बात करके आशमा के प्रैक्टिस की टाइमिंग को दिन का रखने के लिए कहा था पहले तो वो मान गए थे लेकिन फिर पता नहीं क्यों रात के आठ बजे का स्लॉट उसे प्रैक्टिस के लिए दिया गया था हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं बिटिया आठ बजे ही प्रैक्टिस कर लेगी मैं और उसके अब्बू रात को आठ बजे के पहले ही वहां उसे प्रैक्टिस के लिए लेकर पहुंच गए थे लेकिन ना जाने क्या हुआ कि हमें किसी ने आठ बजे तक वहां जाने ही नहीं दिया फिर जब उसके अब्बू ने दोबारा जाकर शो के ऑर्गेनाइजर से बात की तो उन्होंने रात के साढ़े नौ बजे हमें प्रैक्टिस के लिए अंदर जाने दिया पियानो वहीं स्टेज पर रखा हुआ था वहां से सब जा चुके थे सिर्फ हम ही तीन लोग बचे थे आशिमा कह रही थी कि अम्मा आज रात भर प्रैक्टिस करूंगी कैसे भी करके कल ये कंपटीशन मुझे जीतना ही है मैं और उसके अब्बू वहीं कुर्सी पर बैठे थे और वो स्टेज पर रखे पियानो को बजाने के लिए बैठी फिर जैसे ही उसने अंगुली रखी पता नहीं क्या हुआ उसके हाथ से खून टपकने लगा वहीं जोर से चिल्लाने लगी फिर फिर मैं और उसके अबू जल्दी से भागते हुए स्टेज पर पहुंचे तब देखा कि उसकी उंगली से खून टपक रहा था तुरंत उसे वहां से लेकर अस्पताल के लिए भागे बाहर आए तो कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी काफी रात हो चुकी थी बहुत देर बाद एक ट्रक वाला मिला वो बेचारा हमें लेकर हॉस्पिटल गया वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी बीच की उंगली कट गई है अगर आप लोग आधे घंटे के अंदर उंगली लाकर दे दें तो इसे जोड़ा जा सकता है ये सुनकर उसके अब्बू फिर से वहां प्रैक्टिस वाली जगह के लिए भागे लेकिन जब वहां पहुंचे तो देखा कि वहां कुछ नहीं था जो खून गिरा था वो भी किसी ने साफ कर दिया था कहीं कोई नामो निशान नहीं था इतना कहकर आशिमा की बूढ़ी माँ जोर जोर से रोने लगी